इसलिए मैत्रोणी उपनिषद में लिखा है दुखमय रे संसार ये संसार क्या है ये संसार जो है दुखमय है संसार क्या है दुखमय तो हमारे पूज्य व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी इसकी टीका बड़ी सुंदर कहते हैं एक समय गर्मी का मौसम था पिताजी ने अपने बेटे से कहा बेटा आम लेकर आ बेटा थोड़ा थोड़ा गया आम की दुकान पर और भाई को कहा भाई आम दे दिए तो आम लेकर आ गया बोले पिताजी लेकर आ गए तो पिताजी ने बोला बेटा आम को ठंडे पानी में डाल दो ठंडे हो जाएंगे तो पाले तो बेटे ने आम को ठंडे पानी में डाल दिया और हुआ क्या अब पिताजी ने कहा चलो बेटा आम लेकर आप पाले लेना तो जैसे ही बेटा आम लेने गया तो आम तो सारे मट्टी बन गए और बाप ने बोला मूर्ख तुझे किसी ने ठग लिया बोले दुकान वाले अब तो पिताजी अपने बेटे को लेकर दौड़े दौड़े गए बोले किसने ठगा बोले इसने ठगा अब हुआ ये ना तो बाप ने बोट पड़ा दुकान का ना बेटे ने दुकान का बोट पड़ा और पिताजी उस दुकान वाले से लड़ने लग गए मूर्ख तुझे शर्म नहीं है तूने मेरे नन्हे से बच्चे को ठग दिया कैसे आम दिया वो तो मट्टी बन गया दुकान वाला समझ गया दुकान वाले का जनाब थोड़ा बाहर आइए तो उसने दुकान का बोर्ड पढ़ाया दुकान के बोर्ड पर क्या लिखा था नकली फलों की दुकान क्या लिखा था नकली फलों की दुकान दुकान वाले ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने कहा कि आम दे दो आम तो मेरे पास मिलते हैं पर सजाने वाले खाने वाले नहीं तो गलती किसकी बेटे की गलती किसकी बाप की इसी तरह हमारी भी गलतियां ये भगवान मेरी नौकरी क्यों नहीं हे भगवान मेरे पास छोकरी क्यों नहीं हे भगवान मेरे पास मकान क्यों नहीं है हे भगवान मेरे घर में संतान क्यों नहीं है ये सारा रोना हमारा बेकार है क्योंकि इस संसार का नाम ही क्या है दुखमय संसार गीता में कहते ना भगवान दुख दुखाल्यम शासन इस संसार क्या दुखमय है नौवे अध्याय में कहते हैं इस दुखमय संसार में और हम इधर क्या कर रहे हैं सुख की खोज कर रहे हैं तो इसको मूर्खता कहा जाएगा कौसर मेडिकल के पास जाओ बोले एक किलो गुलाब जामुन दे दो बोले भाई पागल हो गए हो क्या ये दवाई की दुकान है या मिठाई नहीं मिल सकती और वही दिल पसंद है वहां चले जाओ भाई वो एक पेनाडोल का पत्ता दो एक डिस्प्रिन का दो एक फलानी गोली दो अरे भैया क्या हो गया आपको ये मिठाई की दुकान है दवाई की दुकान नहीं है मिठाई की दुकान में दवाई नहीं दवाई की दुकान में मिठाई नहीं इस दुख में संसार में सुख नहीं मिल सकता इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास इसलिए दुख में संसार में जीव आता है और रोने लग जाता है लेकिन जिनके घर में संतान होती वो तो हंसते रहे चोरो हो चोरी हो और वो बेचारा रोता लो मैं इधर फंस गया और इन्हें हंसी आ रही तो कहते ना जब हम पैदा हुए जग में जग हसे और हम रोए ऐसी करनी कर चलो के पाचे हसी न हो रोता हुआ जीव वो रोता बच्चा भी कहता हंस लो ऐसा काम कर कर जाऊंगा तुम्हारे दांत ही बंद हो जाएंगे तुम रोते रहोगे अरे कितना अच्छा चला गया सुख में फूलो नहीं दुख में झूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं हे मुरली वाले तो मन से रिजाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो इसलिए मैया जब इस जीव का जन्म होता है तो रोता है आगे जाकर फिर रोया मैया ने पूछ लिया बेटा अब क्यों रोया बोले माँ अब इसलिए रोया अब इसकी आयु पांच साल की हो गई विद्यालय भेज दिया पढ़ने के लिए हर जहाँ स्कूल का काम नहीं किया तो माँ टीचर ने भी डाका और माँ बाप ने भी डाका रोया भगवान कहते मैया जब युवा अवस्था में चला गया तो फिर रोया बोले पुत्र कभी तो अब क्यों रोया तो अब किस लिए रोया बोले लाल सुंदरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ मैं कमारा कब तक बैठू बैंड मेरा बजवाओ जल्दी से कोई चक्कर चलाओ मेरी शादी करो तो शादी के लिए रो इसलिए पतंजलि शास्त्र में लिखा है शादी के बाद तो बंदर ही बन जाता है इंसान इसलिए रामचरित्र मानस के बालकांड में लिखा है रामचरित्र मानस में लिखा है कि जब जब जो है देव ऋषि नारद जी ने शादी की कामना करी देव ऋषि नारद जी ने शादी की कामना करी तो भगवान ने उनको कौन सा मुंह दे दिया बंदर का बोले बेटा बाद में यही बनना है इसलिए पहले ये फोटो देख लो अच्छा अभी तो रवि महाराज की शादी हुई है तो आप फोटो खिंचाने भी गए होंगे अच्छा फोटोग्राफर ने आपको टारगेट किया होगा आप दूरे राजा होंगे मुस्कुराई जाए क्योंकि फोटोग्राफर हमारे मन की स्थिति को समझता है वो ऐसा फोटो खींचता है ज्यादातर वो दूल्हे राजा को तंग करेगा अब दूल्हे राजा मुस्कुराइए क्यों बोले भाई फोटो में कैद कर लो आगे आपको ये मुस्कान नहीं मिलने वाला तो इसलिए भगवान कपिल देव जी कहते रोया क्यों रोया बोले शादी के लिए चलो भाई लाल सुंदरिया भी ले आई शादी भी होगी अब आगे फिर रोए बोले क्यों बोले एक नौकरी से काम नहीं चलता थोड़ी दो पकड़ ले बंदर क्यों बोलते हैं शादी के बाद बन जाते एक डालते दूसरी डालते एक नौकरी से हाँ भाई कहाँ जा रहे हो सब काम पर जा रहे तो तुम गए थे तेरी नौकरी के दूसरी पर जा रहे एकदम से कहा बोले प्रभु भगवान की सोलह हजार एक सौ हम दो रख लेंगे तो क्या हो जाएगा बोले एक के लिए रात को आ रहे हो नौकरी से दो के लिए पता नहीं घर में आओगे नहीं आओगे हम भगवान नहीं बन सकते कि एक उसको ही संभालने हो जाएगा केने कर दिए हैं वो रोया चलो आगे कुछ व्यवस्था हो फिर आगे रोया अब पति पत्नी में क्योंकि पत्नी के मंत्र चल रहे हैं मंत्र ये थे पत्नी ने पूछ कह दिया जोड़ा तो दिलाइए बोले अभी तो दिलाया था बोले अभी नहीं इस बात को छह महीने हो गए आपको अभी लग रहा है तब भी बेचारा लोग इसी तरह रोते रोते रोते बेचारा बड़ा हो गया बच्चों के बच्चे हो गए उनके बच्चे अब खटिया पर आखिरी सांस खेच रहा है अब भी रो रहा है पर पोती की शादी देख ली पर नवासी की लो घर वाले बोरे बाबा जावे तो हम शादी उठावे वो उसका इंतजार कर रहे जाने का और वो पर पोती की शादी देख रहा है बोले माँ ये जीव मोह में मर जाता है और मोह में मरने से नरकों की याचना करता है अट्ठाईस नरकों का वर्णन दिया गया ताम्रसन ताम्र सुरोरो महारोरो पाक काल शुक्र आदि भद्र इस तरह से अट्ठाईस नरकों के विषय में बताया गया मैया अगर जीवों को भवसागर से पार उतरना है मेरा भजन करे और मेरी कथा सुने हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे मैं केवटिया बन जाता हूँ और इस भव सागर से पार उतर जाता हूँ इसलिए मेरी शरणागति में आओ भगवान कह रहे जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया भगवान का भगवान अपने आप को खुलासा कर देते थे आप कृत रामायण पढ़े कृत रामायण के अंदर भगवान ने खुलासा कर दिया राम जी ने मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही ये हूँ वो हूँ कि भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं अपना खुलासा कर देते बोले माँ ये जो सूर्य ना सूर्य जो जगत को रोशन करता है बोले मेरे भय से चल मेरे भय से रोशन करता है ये हवाएं क्या करती है मेरी बहन से चलती है ये काल मुझसे डरता है हे माँ जब मेरे भक्त से मेरा प्रेम हो जाए ना तो मैं उनके रिश्तेदारों से उनको दूर कर देता हूँ यहाँ पर लिखा है भागवत में कपिल देव जी भगवान कह रहे हैं मैं उसे दूर कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और उसके बीच में कोई दूसरा है अब भगत बन जाए देखो लोग आपका परिवार आपसे वेर करने लग जाएगा संसार आपको वेर करने लग जाएगा इसलिए संत तुलसीदास जी तो कहते कि धन्यवाद उनका जो मेरी निंदा कर रहे हैं उनकी निंदा से तो मैं तरक्की आगे कर रहा हूँ और क्योंकि लिखा ना शास्त्रों में जो आपकी जितनी निंदा करेंगे उतनी आप तरक्की आगे करोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे बड़ा सुंदर भगवान ने तांका योग आदि का सुंदर उपदेश दिया तत्वों के विषय में भगवान ने बताया फिर भगवान कपिल देव जी की माँ मैंने जो तुम्हें सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया इसका वर्णन मेरे भक्तों से करना आम लोगों से मत कहना जो मेरे भक्तों से वेर करते हो जो मेरे भक्तों से वेर करते हो मुझसे वेर करते हो उनको कभी नहीं अठारह समृद्धि विष्णु समृद्धि में लिखा है विष्णु समृद्धि में जो लोग कृष्ण की निंदा करते हैं बोले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए अगर गलती से किसी ने उसका मुंह मुख देख लिया बोले गंगा में स्नान कर लेना अभी तक तो गंगा भी नहीं देता स्नान करने जाएंगे इतना अपराध बताया श्री कृष्ण की निंदा करने वाले को इसलिए भगवान कह रहे हैं उन्हें कभी मेरा ज्ञान मत दिया इस तरह उपदेश देकर भगवान कपिल देव जी नमन कर कर गंगा सागर पर चले गए सागर ने उनको मार्ग दिया भगवान कपिल देव जी पाताल में चले गए और यहाँ भगवान के सुंदर ज्ञान का उपदेश जो माता देव ने श्रवण किया उसके ध्यान में बैठ गई तप कर कर तप कर कर इतना तप किया माँ देवहूति ने सिद्धपुर में सिद्धा नाम की नदी बन गई आज भी जीवों का उद्धार कर रही है इसी प्रकार से यहाँ पर जो भागवती गंगा तीसरे स्तंभ को विश्राम करते हुए इस ज्ञान यज्ञ को यही आराम देते हैं कथा कहने में दास को कुछ अपराध हो जाए तो दास क्षमा कर देना भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना ही तो कभी अधूरी होती है कहीं विश्राम देते हैं और कल हमारी कथा में बोलिए हर हर महादेव की जय कल सती चरित्र में जो है